चरणों पर प्रथम नजर डाले फिर हेरे मोते नजर किए फिर हाथ जोड़ कर खड़ा रहा लज्जावश नीचे नजर किए फिर बोला क्षमा क्षमा राघव तुम कृपा सिंधु हो दानी हो जलने जलने के ठहरा दे आबरू न पानी पानी हो सिंधु बचन सुन हसे श्री रघुराज उदार कहा बताओ कपिकटक किस प्रकार हो पार शेष नवा उसने कहा सुनिए करुणागार जो आज्ञा हो आपके वही मुझे स्वीकार प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा पर इतना ध्यान रहे भगवन गौरव भी मिटता है मेरा क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसके युग युग तक याद रहे हो जाए विजय भी राघव के सागर के भी मर्याद रहे नन्नील बड़े वरदानी है वे जल पर सेतु बनाएंगे अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे फिर मदद करेगा सागर भी मन में यह छुपी भावना है पुल बधे विजय हो लंका पर मेरी भी यही कामना है यह अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में जो खल है मेरे उत्तर में आरंभ से तुका कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर है अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर है तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरे सिंधु के पीर सागर गदगद हो गया हर साये रघुवीर सुग्रीव बोल उठे तुरंत यह हो अवसर मुहूर्त का है नल लील से तु आरंभ करो शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है यह सुनते ही कपिसेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ आनंद पूर्ण जयकार हुआ पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ चिकने चौड़े उजले सुडौल जो ढले कुदलती साँचों में में कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों बातों में ले ले कर नाम राम जी का नल उठाते थे पत्थर वह चमत्कार था हाथों में जल पर तर जाते थे पत्थर वह चमत्कार था हाथों में जल पर तर जाते थे पत्थर मिस्त्रियों और मजदूरों में दुस्साह कार्य कर दूना था प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था प्राचीन कला का भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर रघुबर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे हंस पड़े यह घटना देख कर मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैराय मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तरा तैराय आगे आकर भक्त ने कही दिया तुरंत क्यों डूबा पाषाण यह बतला दू भगवंत यह महिमा नाथ राम की है जल पर पत्थर तैराते हैं उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं फिर भी कुछ मन की कहना फिर भी कुछ मन की कहता हूँ अपराध क्षमा सरकार करे दो पुष्प चरणों में रखता हूँ यदि रघुराई स्वीकार करे जो कर कमलों में बना रहा निश्चय यह बना रहा भगवन इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन ठीक समय हो गया सुंदर सेतु तैयार मुस्का कर कहने लगे तब से करुणा आगार जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी बरसों में है साधुवाद द्वारा तुमको वह कर दिखलाया दिवसों में अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का रण के देवता त्रिलोचन है पहले हम उन्हें मनाएंगे पहले हम उन्हें मनाएंगे मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक है शंकर है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक है शंकर है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक है शंकर मैं उनका हूँ वह मेरे हैं हम दोनों चीर सरवरा हैं आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार संस्थापन या वाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का सागर तट बना राम द्वारा इस भांति धाम सिद्धेश्वर का प्रभु बोले शंकर में मुझ में शैवलेश मात्र भी भेद नहीं जो जन अद्वैत उपासक है होता है उनको खेद नहीं जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है सागर में ही तो आता है क्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है क्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है इतने में कहा पवन सुत ने अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ इसलिए आज से आगे को शिव राम ये कही नाम हुआ इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ यह सुनकर फिर जयकार हुआ ध्वन गूंज उठे श्री हरिहर की तुम भी अब राधे श्याम कहो जय राम और जय रामेश्वर की तुम भी अब राधे श्याम कहो जय राम और जय रामेश्वर की रसने बोल जेवे बोल ओम नमो रामाय ओम नमः शिवाय मंत्रों में यह मंत्रयन बोल ॐ नमो रामाय ॐ नमः शिवाय रसने बोल जीवे बोल ॐ नमो रामाय ॐ नमः शिवाय बलकल इधर उधर बागंबर यह धनुर्धर वह त्रिशूल धर जूट दोनों के सिर पर दोनों धूल धूसरित हरिहर नयन तुला पर तो मनुआ दृष्टे पर परतोल रसने बोल हे बोल ॐ नमो रामाय ॐ नमः शिवाय रसने बोल हे बोल शिवाय कुंद इंदु सम है गिर जावर नीलाम्बुज समान सीतावर कुंद इंदु सम है गिर जावर नीलाम्बुज समान सीतावर दोनों कहलाते हैं ईश्वर राधे श्याम राम रामेश्वर अंतर के पट खोल मनुआ भीतर के पट खोल रसने बोल देवे बोल ओम नमो रामाय ओम नमो शिवाय रसने बोल देवे बोल ॐ नमो रामाय ॐ नम शिवाय ॐ नम रामाय ॐ नम शिवाय ॐ नमो रामाय ॐ नम शिवाय